श्लोक में कह दिया गया कि जो प्रत्यबोध है वही अद्वयानंद है और जो अद्वयानंद है वही है जैसे कहा जाता है जो घटक है वही कलश है जो कलश है वही घटक है इस प्रकार की कार्य है कहते हैं वहाँ तो जो घटक है वो कलश है तो कभी भी हम घट को देखेंगे तो उसी को उसी घट को तत्काल हम कलश कह देंगे इसलिए लोक में कभी प्रयोग नहीं होगा कि जो घट है वही कलश है जो कलश है वही घट है इस प्रकार नहीं होगा किंतु होगा कि जो घट है वो मिट्टी है इस प्रकार की होगा अर्थात हमको बुद्धि में थोड़ा भेद आ रहा है किंतु हम कह रहे वास्तव भेद नहीं है इसलिए दो पदार्थ हमको दिखता है किंतु कहते हैं ना ना ये दो नहीं है वो एक ही है जिसको आप सर्प समझते हैं वो रज्जु है और जो रज्जु देखता है उसी को आप सर्प गुरु करके समझते हैं अर्थात ये वास्तव में यहाँ दो नहीं है किंतु हमको दो जैसा लगता था इसलिए यहाँ कहते कि जो ये है वही वो है जो वो है ये और पूर्व श्लोक में भी कह दिया था कि अच्छा टीका में दिया था कि व्यतिहार होना है व्यतिहार अर्थात जो ये है वही है और विपरीत भी कर लेंगे जो तुम है वही तत्व है जो तत्व है वही तुम है और अगर दोनों बराबर है तो उनको कहना पड़ेगा कि जो ये है वो वो है फिर विपरीत तो कहना पड़ेगा प्रथम किसको कहेंगे फिर प्रथम जो अनुभव में आएगा उसी को ही पहले कहना है जैसे हमारे सामने दिखता है पर्वत हम कहते जो पर्वत है वही बनीमान है जो बनीमान है वही पर्वत है कभी बनीमान बनी हमको तो नहीं दिख रही लेकिन पर्वत दिख रहा है इसलिए जो दिख रहा है पहले उसको कह देंगे इसी तुम और तक इसमें तुम अनुभव में आएगा तो जो अनुभव में आएगा उसी को पहले रख देंगे कहेंगे ये जो आपको अनुभव में आ रहा है वो वही है इस प्रकार की यहाँ पर विचार पिछले बार तो उनतालीसवा उनचालीसवा श्लोक में कह दिया प्रत्येक बोध आभाती सो अद्वयानंद लक्षण और जो अद्वयानंद रूप है वही प्रत्येक बोध ही का लक्षण अर्थात दोनों में बिल्कुल बराबर कह दिया आगे चालीसवा श्लोक में प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदेव हि व्यावर्तेत तदेव हि इति त्वमन्योन्यता प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्म

तदा एव ही तमर्थ अब्रह्मत्व आगे तदर्थस्य च पारोक्ष्यम् यद्येवं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण पूर्णानन्दैकरूपेण

अं, तदर्थ से पारोक्षम तदा एवं व्यावर्तता उसी समय में निवृत्त हो जाएंगे दो चीज क्या कहते हैं अब्रह्मत्म तोमत और तदर्थ से पारोक्षम श्लोक आगे व्याख्यान करेंगे यदि एवं किम ततः श्रेणु अन्य तो जैसा है ऐसा पूर्णानंदी का रूपेण प्रत्यबोध थे इत्थम अन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति यदा यदा यदा जिस समय इत्थम इत्थम अन्य प्रकार क्या सूत्र बोलता है तो जिस समय में अनेक प्रकार अर्थात इसी प्रकार इसी प्रकार कहते हैं पहले कह दिया ऊपर श्लोक में जो प्रत्यय बोध है वही अद्वयानंद है जो अद्वयानंद है वही प्रत्यय बोध है प्रत्यय बोध तोम और तत् दो पदार्थ से प्रत्येक बोध किसके लिए कहते हैं तत्वम के लिए और अद्वयानंद पदार्थ कहते इतम अन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति अन्य तादात्म्य तादात्म्य अर्थात जो ये है वही वो है जो है ये इस प्रकार इस प्रकार अन्य तादात्म्य तादात्म्य अर्थात तदभाव को प्राप्त हो जाते हैं तो जैसे कहेंगे कि जो घट है वही मिट्टी है किंतु जो मिट्टी है वो घट ऐसा कह देंगे क्या है नहीं कह पाएंगे किंतु यहाँ जो तुम है वही तत्व है और जो तत्व है वही तुम है घट मिट्टी में अंतर क्या होता है जो घट है वो तो मिट्टी है किंतु जो मिट्टी है सभी मिट्टी घट नहीं है अर्थात घट को छोड़कर अन्य मिट्टी भी है इसी प्रकार की जो तुम है वो तत्व है और तत् अगर तुम को छोड़ करके और कुछ अधिक होगा तो फिर जो तत् है वो तुम है इस प्रकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं है जो तत् है वही तुम है अर्थात जो ब्रह्म है वही वास्तविक ब्रह्म है अर्थात ऐसा नहीं कि हमसे और अधिक कुछ रह गया ब्रह्म हमसे ये नहीं अर्थात वास्तविक हम ही पूर्णतया ब्रह्म है इस प्रकार के निश्चय होता है इसमें से अन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान तादात्म्य प्रतिपत्ति अर्थात तदभाव ज्ञान अर्थात जो है वही वही है किसी प्रकार की जो ज्ञान भवे तो होने से क्या होगा अर्थात जो तुम है वही तत्व है जो तत्व है वही तुम है इस प्रकार ज्ञान होने से क्या होगा कहते हैं कि तदा एवं तदा अर्थात उसी क्षण त्वमत्व से अब्रह्मत्व होते अभी जो तुम था वो मानता था कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ मैं तो बस मैं हूँ किंतु अभी उसमें जो मैं ब्रह्म नहीं हूँ अर्थात मैं क्या हूँ मानता था अब्रह्म हाँ। तो जिस समय में निश्चय हो गया कि जो तुम है वही तत्व है इसमें जो अब्रह्म तो था वो चला गया क्योंकि जो तुम है वही तत्व है तो होने से तुम में जो अब्रह्म तो था और अभी रहेगा जैसा कहा जाएगा एक बालक था उसको पता नहीं कि वो राजकुमार है वो किंतु कोई जंगल में भीड़ का घर में बढ़ रहा था उसको ये बोध तो नहीं था कि मैं राजकुमार हूँ सोचा था मैं तो जंगली आदमी हूँ तो अभी उसका अंदर में जो मैं जंगल का आदमी हूँ ये बोध था जब उसको ज्ञान हो गया कि मैं राजकुमार हूँ उसका ये जो जंगल आदमी बोध हो ये चला जाए इसी प्रकार की मैं अब्रह्म हूँ इस प्रकार की जो बोध था किसका ये बोध था तोमर्थ था हम्म। तोमर्थ में जो अब्रह्म जो बोध था वो उसी क्षण चला जाएगा अच्छा खाली इतना होगा तो मत का अब्रह्म तो चला जाएगा कहते नहीं तदर्थ से तो पारोक्ष मैं तो शुद्ध हूँ कुटस्थ हूँ असंग हूँ इस प्रकार तो मत को जान लिया था किंतु वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का हमको ईश्वर कहाँ प्रत्यक्ष होता है तो ईश्वर तो प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ईश्वर परोक्ष है तो ईश्वर में जो पारोक्ष परोक्ष से भाव है कि पारोक्ष परोक्षत्व कह सकते हैं पारोक्ष कहते हैं तो ईश्वर में जो परोक्षत्व धर्म था ये भी चला गया क्यों कहते हैं कि जो मैं हूं मैं जानता हूं अपने आप को वही वास्तविक ईश्वर का भी वास्तव रूप वही है हम क्या सोचता था कि हम एक जीव है शरीर वाला है मनबुद्धि वाला है हम जब एक में अलग हो गया तो ईश्वर को भी एक अलग मान लिया जैसे कितने बार हम लोग दृष्टान्त विचार किए हैं जमीन का नीचे पानी भरा हुआ है और वहां से हम एक को दिए कुछ ट्यूबवेल को जितना ऐसा होता मतलब पाइप में होता है वो पानी ऊपर आता है और कहीं और दूर में कोई एक व्यक्ति बड़ा एक तालाब खुद गया इतना गाढ़ा कर दिया कि जमीन का नीचे पानी दबा गया इतना गाढ़ा कर दिया तो अभी ये ट्यूबवेल का अंदर में जो पानी है वो सोचता है क्या मैं तो इसमें हूँ और दूर में देखता है जो तालाब वाला पानी तो तालाब वाला पानी मैं हूँ ऐसा मानेगा क्या वो हम्म। तो अलग मैं तो बस ये ना पाइप में बंद हूँ किंतु जब ये अंदर अंदर जाकर के जो पाइप में बंद वाला पानी ये जब अंदर अंदर जा करके देखेगा कि अच्छा ये तो जमीन का अंदर वाला पानी है फिर वो जो तालाब में है वो भी वही है नहीं है इसी प्रकार के हो जाएगा हम्म। किंतु जब तक मैं पाइप का अंदर वाला पानी हूँ तब तक मैं तालाब वाला पानी हो जाऊंगा नहीं होगा तब तक वो भेद मानता था किंतु जब निश्चय हो गया कि मैं तो नीचे का पानी हूँ तब कहेगा अच्छा वो अभी हमसे भिन्न नहीं है जो ईश्वर में पारोक्ष तो परोक्ष तो हो रहा था वो जानेगा कि वो तो वही नहीं एक ही हो इस प्रकार की जब तत्पदार्थ में पारोक्ष तो परोक्ष तो था दूर से देख रहा था वो तालाब का जल को अभी तो एक आदमी दूर से कहा अभी तो एक ही हो गया सर तदर्थ पारोक्ष्यम ये भी व्यावर्त है तो ऊपर के साथ में है स्वमर्थ से अब्रह्मत्व तदर्थ से व्यावर्तित उसी समय में ये दोनों चीज चले जाएंगे क्यों ये जो दोनों पदार्थ थे एक तोमर्थ में अब्रह्मत्व तदर्थ में परोक्षत्व ये दोनों उपाधि अंश को लेकर के हो रहा था ये पाइप का अंदर में पानी और वो तालाब का पानी ये पाइप अगर नहीं होता और तालाब वाला वो जो जमीन नहीं होता तब तो, फिर कोई भेद नहीं है किंतु जब तक तो ये उपाधि के साथ सटा हुआ था तब तक मानता था कि ये भेद है जब तक हम ये उपाधि हमारे लिए क्या है कहते हैं बाइक क्या है कहते हैं शरीर मन बुद्धि इसी के साथ जब तक हम सटे रहेंगे तब तक हम नीचे जमीन का पानी को कभी जान नहीं पाएंगे हम तो हमेशा इसी को ही देखते रहते हैं तो ये पाइप को हम क्यों देखते हैं पाइप का अंदर में जल है ये जल ये पाइप को क्यों देखेगा क्योंकि वो स्वयं जल को नहीं देख रहा है उसका बुद्धि है कि बाहर की तरफ देखना पाइप का अंदर में जो जल है अगर वो बाहर को तरफ देखेगा तो किसको देखेगा हाँ, पाइप को ही देखे पाइप का अंदर में जो जल है वो बाहर की तरफ देख रहा है तो किसको देखेगा पाइप को देखेगा तो इसी प्रकार की हमारी बुद्धि अगर बाहर की तरफ देखेगा किसको देखेगा इंद्रियों को देखेगा शरीर को देखेगा बाकी और बाकी शरीर को भी देखेगा इसको बंद करना बाहर की तरफ जितना कम देखें तो तभी इसका जो संस्कार पड़ गया बाहर की तरफ देखना तो इसीलिए वो बिल्कुल अंदर की तरफ चलता ही नहीं इसको पहले बंद करना पड़ता है तभी तो जाकर के वो धीरे धीरे अंदर की तरफ चलेगा वो संस्कार को पहले तोड़ना पड़ेगा जैसा कहते हैं खाने पीने में कुछ तो संस्कार पहले बना रहता है तो साधुओं को तो अलग चीज नहीं मिलेगा मिठाई मिल जाएगा <laughs> तो जब तमस गुण आएगा अथवा तो रजगुण आएगा क्या करेंगे आज तो सुबह मतलब भोजन का आरम्भ से अंतिम तो मिठाई ही खा लेंगे इस प्रकार की जो होता है ये संस्कार है ये संस्कार को जब तक तो छोड़ेगा नहीं कैसे छोड़ेगा उसको बार बार रोकना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे धीरे काटना पड़ेगा कभी जीत जाएगा तो हार भी जाएगा इसी प्रकार के सभी इंद्रियों को बंद करना होगा सच्ची धीर प्रचल आत्मान कहा जाता है कोई विवेकी होता है वो रोकता है इंद्रियों का इसलिए हम लोग का काम होगा कि इंद्रियों को रोकना पड़ेगा इसमें कोई नहीं कि जैसा चलता है चलने दो और हमको हो जाएगा वो नहीं होगा इसको रोकना है यही रोकने के लिए इसका हम सेवा करेंगे ध्यान करेंगे जप करेंगे ये सब करने से धीरे धीरे इंद्रिय रोकते हैं रोकने से फिर जा करके अपने को जानेगा तो उन पदार्थ का शोधन होगा आगे तत्पदार्थ का शोधन होगा इसको प्रक्रिया घटेगा तो दो चीज हो गया एक स्वर्थ में त्वम पदार्थ में जो अब्रह्म था वो चला गया और तत्व पदार्थ में जो परोक्ष था वो भी गया तो दोनों भी एक हो गया अभी श्लोक में पूछते हैं यदि एवं किम ततः ठीक है अभी ये दोनों का जो विरुद्ध धर्म था वो चला गया तो उससे क्या हुआ कहते श्रीनु टीका में देखिए इकतालीस जहां लिखा है तादात्म्य प्रतिपत्तिया सोमर्थगत अब्रह्मत्व तदर्थगत पारोक्ष निवृत्त निवृत्तोपि किं करिष्यति आशंका तादात्म्य प्रतिपत्तिया तादात्म्य की प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति अर्थात तादात्म्य तादात्म्य अर्थात जो ये तो है वही तथ्य है जो तथ्य है वही तथ्य इसका ज्ञान होने से क्या हुआ कहते हैं तोमर्थगत अब्रह्मत्व तुमर्थगत अर्थात तुमर्थ में गया हुआ क्या गया था कहते मंदता में ब्रह्मणी अभ्रमत्म और तदर्थगत पारोक्ष जो ईश्वर है वो तो परोक्ष है वो कहाँ हमको अनुभव होता है ये दोनों निवृत्त होके निवृत्त हो गए इन कनिष्य उसे क्या फल होगा इसे आशंक्य तदर्थ से आशंक्य यदेव हम्म, अच्छा हाँ आगे ठीक है यदि एवं अगर ऐसा हुआ तो उसे क्या हुआ कहते हैं श्रोत्री चेत श्रो वो करते हैं श्रोत्री चेत समाधान प्रार्थना पूर्वक उत्तर आह जब उत्तर देने के लिए चलते हैं तब श्रोता का चित्त एकाग्र हो इसलिए प्रार्थना करते हैं सुनिए जब कहते हैं सुनिए तो वो एकाग्र होकर के सुनेगा इसलिए श्लोक में कहा गया पूर्वार्थ में इकतालीसवें श्लोक में श्रीणु अर्थात श्रीणु करने का अर्थ एकाग्र करने के लिए श्रोत्री चेत समाज कैसे होगा श्रोत्री का चेत हाँ श्रोत्री का ष्टी क्या हो जाएगा श्रोतु क्या सूत्र लगा श्रोतु चेत श्रोता का चेत चेतस प्रतिपति होता है चित्त भी कहते हैं चेतस भी कहते हैं समाधान प्रार्थना पूर्वकम इसमें समाज कैसे कहेंगे समाधान प्रार्थना पूर्वकम उत्तर कहते हैं कि तो समाधान प्रार्थना पूर्वकम पहले समाधान प्रार्थना में समाज करना पड़ेगा कैसे करेंगे समाधान प्रार्थना समाधान प्रार्थना ताकि दोनों अलग अलग है किस चीज का प्रार्थना करते हैं समाधान प्रार्थना किस चीज के लिए करते हैं समाधान तो यहाँ क्या समस्या हो जाए षष्टी होने समाधान से प्रार्थना समाधान से षष्टी षष्टी होता है विषय का घट से ज्ञानम घट ज्ञान कह देते हैं घट से ज्ञान तो घटस्य ज्ञान या सृष्टि किसको कहता है ज्ञान का विषय क्या है घट सृष्टि को कहते हैं विषय सृष्टि तद विषय तो इसी प्रकार क्या हो गया समाधान से प्रार्थना तो प्रार्थना का विषय क्या हो गया समाधान समाधान होता है विषय आगे हो गया समाधान प्रार्थना आगे तत्पूर्व समाज क्या होगा कर्मधारय जो नहीं हाँ। समाधान प्रार्थना और दूसरा शब्द होगा पूर्व इसमें क्या समास करेंगे देख करके पता चल जाता है क्या समास भोगरी भोगरी में दिखता है अभी बोलिए समाधान पूर्व कम कैसे हो जाएगा जो पूर्व होगा पूर्व जो होगा वहाँ यसे रहेगा पूर्व जो होगा आगे यश रहेगा पूर्व एक दिग्वाचक शब्द है दिग्वाचक होने से क्या अभियोग आना है तो कैसा कहेंगे विग्रह हुए पूर्वाध हाँ। समाधान पूर्वाध समाधान समाधान पूरा शब्द से करते हैं समाधान प्रार्थना हो यस्मात पूर्व कैसे हो जाएगा प्रार्थना कौन सा लिंग रहा बोलिए समाधान प्रार्थना पूर्वा यस्मात तो समाधान प्रार्थना पूर्व है जिससे पहले समाधान का प्रार्थना करते हैं आगे क्या कहेंगे उत्तर कहेंगे तो उत्तर से पूर्व में समाधान की प्रार्थना रहा इसलिए समाधान प्रार्थना पूर्वा यस्मात तस्मात उत्तर आगे उत्तर देंगे तो समाधान प्रार्थना पूर्वकम कौपी सूत्र से आया तो, तो समाधान प्रार्थना पूर्वकम उत्तरम आह श्रीनु उत्तर देते हैं लोग ने कहा अभी जो तथ्य है वही तुम है जो तुम है वही तथ्य है जो ईश्वर परोक्ष था अभी वो ईश्वर और परोक्ष नहीं रहेगा कौन है कहता नहीं क्यों कहता ईश्वर अब ईश्वर नहीं रहा ईश्वर ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म कौन है कहता मैं ही तो इसलिए अभी और ईश्वर और परोक्ष नहीं रहेगा तो अगर मैं ही ईश्वर हो गया इस प्रकार की तो ये ईश्वर क्या करता था पहले जगत का सृष्टि अभी अगर मैं ही ईश्वर हो गया स्थिति आएगा फिर जगत का सृष्टि कौन करेगा और वास्तविक शास्त्र कहता है कि आप ब्रह्म ही है तो वास्तव जगत की सृष्टि कौन कर रहा है इसलिए आप जिस जगत को देखते हैं वो जगत का सृष्टि आप ही करते हैं नहीं तो, तो शास्त्र से मिथ्या हो जाएगा शास्त्र कहते हैं वास्तव ईश्वर आप ही है वास्तविक ईश्वर आप ही है अर्थात ये जगत जो बनाते हैं आप ही बनाते हैं स्वप्नों को कौन बनाता है जो देखने वाला ठीक इसी तरह ये जागृत को भी जो देखता है वही बनाता है कहते जा, जागृत को हम जो देखते हैं उसमें दो भाग किया जाता है एक है तो सामने के एक व्यक्ति को देखे वो व्यक्ति देवदत्त का मित्र है और यज्ञ का शत्रु है सामने में तो व्यक्तित्व खड़ा है चैत्र अभी यज्ञ दत्त उसमें मित्रत्व देखता है देवदत्त उसमें मित्रत्व देखता है और यज्ञ दत्त उसमें शत्रुत्व देखता है तो अभी जो मित्रत्व शत्रुत्व ये दोनों ये दो व्यक्ति ही बना रहे ना ना और कोई बना दिया दो व्यक्ति बना तो अभी देखिए वो व्यक्ति में मित्रत्व शत्रुत्व ये दोनों सृष्टि किए नहीं किए तो अभी एक व्यक्ति का जो पिंड दिखता है शरीर दिखता है वो ये दोनों सृष्टि नहीं कर रहे हैं ऐसे मान रहे हैं किंतु उन्होंने जो मित्रत्व शत्रुत्व ये दोनों का सृष्टि किए तो जैसे मित्रत्व शत्रुत्व सृष्टि कर देते हैं ऐसा ये पिंड को भी सृष्टि करते हैं तो पिंड को सृष्टि करेंगे तो सभी क्यों एक ही प्रकार की करेंगे देवता तो कुछ अलग कर देना चाहिए यज्ञ तत्व तो कुछ अलग कर देना चाहिए तो कहेंगे कि अलग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्यों कहते हैं यही ईश्वर का कार्य है ईश्वर का कार्य अर्थात तो वास्तविक ईश्वर वो दोनों के द्वारा इसको समान रूप से बना है जो सामने में पर्वत देखते हैं हम लोग सभी समान रूप से देख रहे हैं ना किंतु पर्वत किसी को अच्छा लगता है किसी को खराब लगता है अग्नि लग गया देखने से अच्छा लगा देखो कैसा नाच हो रहा है किसी को अरे बढ़िया हुआ रास्ता साफ हो जाएगा इस प्रकार करते हैं तो ये जो अच्छा हुआ खराब हुआ ये तो हमको लगता है हाँ ये तो हम लोग सृष्टि कर देते हैं अच्छा खराब ये तो हम लोग सृष्टि कर देते हैं किंतु जो पर्वत इसमें जो अग्नि लगना ये तो हम लोग सृष्टि नहीं कर पाते हैं ऐसा हमको लगता है ऐसा क्यों लगता है क्योंकि हम इसको सत्य मानते हैं जब धीरे धीरे फिर ये वेदांत विचार होते होते लगेगा ये वास्तविक ये सत्य नहीं है तब फिर लगेगा कि जब हम देखते हैं तब ये बन जाता है जैसा सोचना हम नहीं देखते हैं तो फिर ये नहीं बनता है जिस समय में हम पर्वतों को नहीं देख करके इधर चले पर्वत ये जितना जितना विचार करेंगे और आनंद आएगा हमें ये पर्वत कैसा नहीं है हम चला गया ऋषिकेश की तरफ तो बाकी जो लोग नहीं देते हैं पर्वत तो। हम्म। पर्वत तो कैसा नहीं है ऐसे विचार आगे चला जाए उसका उत्तर मतलब देंगे जो बाकी जो लोग आप कह रहे हैं वो सब कौन है वो सब कहाँ से आए आप ही चिंतन करते हैं कि ये सब बाकी लोग है जैसे स्वप्न में भी इस प्रकार हो सकता है नहीं हो सकता है हम लोग बहुत लोग खड़े होकर के पर्वत से देखते हैं हम घूम करके चला गया ऋषिकेश की तरफ बाकी लोग खड़े होकर पर्वत देखते हैं तो जब हम जग जाएंगे तो क्या कहेंगे हम तो जग गया लेकिन बाकी लोग तो खड़े होकर पर्वत देख रहे हैं ऐसा होगा कि बाकी लोगों को कौन सृष्टि किया था हमें क्या था ना ये इसी प्रकार जितना जितना वेदांत पढ़ेंगे उतना उतना ये सब और मजा मजा लगेगा सब शुरुआत में तो नया नया लगेगा आप और और पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तो चित्त उसी प्रकार के संस्कारित होगा फिर ग्रहण करेगा बिल्कुल ऐसा है हम जैसा सृष्टि करते हैं ऐसा ही होता है इसलिए वेदांत के पीछे एकदम पढ़े रहना है फिर धीरे धीरे आनंद बढ़ेगा तो कहते हैं ततः किम उससे क्या होगा कहते हैं पूर्णानंद रूपेण प्रत्यबोध अवतिष्ठते जो प्रत्येक बोध है वही अब पूर्ण आनंद रूपेण रहेगा प्रत्येक बोध तुम तो के लिए कहा जाता और पूर्ण आनंद तत् लिए अर्थात जो प्रत्येक बोध था पहले मानता था मैं परिचिन्न हूँ मैं ब्रह्म नहीं हूँ अब मैं ब्रह्म हूँ इस रूप से रहेगा अंतिम में मैं ही हूँ ये स्थिति आना चाहिए नहीं तो वो ईश्वर है व्यापक है वो ब्रह्म है ऐसा नहीं अंतिम में मैं ही ये स्थिति आना है सभी सत्य भाव कैसे शत्रु और मित्र भाव कुछ हद तक परिस्थिति ये परिस्थिति दायी नहीं होता कुछ परिस्थिति ये सब प्रारब्ध ये सब का कारण जीव ही होता है कुछ भी चीज बाहर में नहीं है सब चीज अंदर में ही है हमारा जैसे कर्म है उसी प्रकार की हमको फल आएगा और फल के लिए निमित्त उपस्थित होगा और निमित्त किसी कारण से वो आएगा कौन लाएगा वो निमित्त को हमारे कर्म इसलिए परिस्थिति कारण नहीं है हमारे कर्मों को परिस्थिति को बनाता है अगर परिस्थिति कारण होगा सभी के लिए समान होना चाहिए अभी गर्मी की परिस्थिति है किसी को ठंडा लगता है क्या सभी को गर्मी लगेगा किंतु ये जो सुख दुख होना है इसके लिए परिस्थिति कारण नहीं है ये अपना कर्म फल निमित्त को लेकर के आएगा इसलिए हमको निमित्त को अगर हम कारण मान लेंगे तो हमारी आध्यात्मिक गति नहीं हो पाएगी जो निमित्त बन करके आया और हम उसको कारण मानेंगे तो हमारी खोज अंदर में हो रहा है ना बाहर में हो रहा है ये आध्यात्मिकता नहीं ये साधकता नहीं हर चीज का कारण जब हम अपने अंदर में खोजेंगे तब तो हम अपने अंदर में उसको बदल सकते हैं बाहर को हम कुछ भी बदल नहीं पाएंगे वो ऐसे ही ऐसे ही रहेगा इसलिए साधक वो है जो हर चीज का कारण अपने अंदर में खोजेगा ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो ऐसा मेरे प्रति क्यों हुआ हमने क्या कमी रहा जिसके लिए हमको ये भोगना पड़ा उसने कैसा कर दिया वो कुछ नहीं है वो तो निमित्त है वो तो हमारा कर्म के चलते लाया गया किंतु हमारे अंदर में क्या रहा जिसके चलते ये हुआ अगर हम खोज लेंगे उसको तब तो हम उसको निराकरण कर सकते हैं और हम खोज नहीं पाएंगे तो बार बार हम उसी गाड़ा में गिरते रहेंगे तो इसलिए साधक का प्रथम यहाँ एक दृष्टांत लेते हैं यहाँ एक दृष्टांत लेते हैं कि हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है ये सब अपना ही धर्म का प्रश्न सुनिए खड़ा ये विचार नहीं करेंगे वो आप बाद में कर सकते हैं क्योंकि पाठ का अंदर में उतना दूर तक नहीं जाना है इसलिए पंक्ति से थोड़ा दूर जाएगा खाली इतना ही है कि साधक है तो जगत को देखना नहीं जगत बदल नहीं पाएंगे राम जी नहीं बदल पाए भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाए ऐसे ही रहेगा तो सारे साधना का वही है कि जगत मिथ्या है अगर जगत मिथ्या ही है उसके बारे में क्या इतना बुद्धि लगाना है तो स्वप्न में हम कोई बुद्धि लगाते हैं क्या ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया जग गया तो कुछ नहीं इसलिए उद्यम करना कैसे स्वप्न से जग जाए ये स्वप्नों को सुधार करेगा तो कभी सुधार होगा नहीं ये तो रोज रोज बदलता रहेगा स्वप्न ये वो बुद्धि नहीं होना है हमेशा कैसे स्वप्न से जग जाए कैसे जगेंगे अंदर में चलने से जगेंगे अब और पाइप को देखना नहीं पानी अब तो भाई अंदर को देखना <laughs> पाइप को देखते रहोगे तो पाइप के बाहर और बेटी भी दिखेगा <laughs> और डूब जाएगा उसमें वो नहीं करना हमेशा अंदर को देखना है तो पूर्णानंदी का ना प्रत्येक बोध अवतिष्ठते जो प्रत्येक बोध है वही पूर्णानंद है और अच्छा, ये दो श्लोक स्वामी जी पहले जो अद्वैनंद रूप ये भी तत् के लिए कहा था अद्वैनंद रूप जो था वही पूर्णानंद हाँ। और जो प्रत्येक बोध है वो प्रत्येक क्योंकि अद्वय जो है जिसका द्वैत नहीं है वो पूर्ण होगा ना परिचिन्न होगा पूर्ण होगा वो पदार्थ दे अर्थात वास्तविक अंतिम में क्या हो जाए ना अहम ब्रह्म नहीं कि वो जो ब्रह्म मैं वही हूँ उसका अंश हूँ ये नहीं जो मैं हूँ वही अपरिचिन्न व्यापक ब्रह्म है वही उसी में ही जगत अधिष्ठित है अर्थात मेरे में ही ये जगत अधिष्ठित है तो ये जगत का कल्पना मैं ही कर रहा हूँ इस प्रकार ये दोनों श्लोक उच्चारण करेंगे प्रतिपत्ति

को जीव कह परश्चात्मा तादात्म्यम व कथम तयो तत्वमस्यादि वाक्यम व कथम तत् प्रतिपादय चार प्रश्न का कह जीव कह परश्चात्मा और तादात्म्यम व कथम तयो दोनों का बीच में तादात्म्य कैसे और तत्वमसी वाक्य तादात्म्य को कैसे कहता है तो यहाँ तो तृतीय प्रश्न हो गया वो दोनों का बीच में तादात्म्य कैसे होगा तो कह दिया है संसर्ग अथवा विशिष्ट नहीं है अखंड ही रस यही तादात्म्य हुआ ये पूरा हो गया अभी कहते तत्व तो वो तो तादात्म्य को कैसे कहेगा उसको बताते हैं क्योंकि तत्वमसी तो वाक्य से ही हमको तादात्म्य का ज्ञान होगा ये वाक्य कैसा कहता है उसको ये बताते हैं जैसे कहा जाता है कि नद्या तीरे पंच फलानी संति अभी एक वाक्य हो गया कहते ये वाक्य से इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी हुई ये वाक्य सुना चार व्यक्ति खड़े थे ये वाक्य सुनने के बाद एक व्यक्ति चलने लगा उसे भाई कहा जा रहे तो उन्होंने कहा ना तो इस व्यक्ति को ज्ञान हुआ बाकी तीन को नहीं हुआ तो ये क्यों हुआ उसको बाकी तीन को क्यों नहीं हुआ ये जानना आवश्यक है इसलिए यहाँ करते हैं जो व्यक्ति वाक्य सुनकर के प्रवृत्त हुआ वो वाक्य वाक्य में कुछ बहुत पद है हाँ। पद का श्रवण सभी को हुआ कि पद श्रवण होने के बाद पदार्थ उपस्थित होना चाहिए नद्या अर्थात नदी की नदी का तीरे तीरों में पंच पांच फलानी फल संति है ये पांच पद का अर्थ आने तो अर्थ आने के बाद भी उनका बीच में संबंध होना चाहिए जैसे हम लोग का इतना अभ्यास पड़ गया पूर्व की को पता नहीं चल रहा हमसे सुनते पास वाक्य तो सुनो नदी तीर में पांच पल है हाँ, सुना चल दिया लाने के लिए किन्तु इसमें कैसा प्रक्रिया होता है जैसे कहते हम चले जाते हैं पंगत में बैठ जाते हैं और भोजन परोस देते हैं हम लोग खा करके आ जाते हैं हमको कोई पता है ये रोटी रोटी कैसे बनता है चावल कैसा है सब्जी कैसा बना दिया मिठाई कैसा बना दिया इन सबका अंदर में प्रक्रिया है इसी प्रकार की यहाँ भी ये प्रक्रिया बताएंगे पद सुनने के बाद पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए मान लीजिए चार व्यक्ति में एक विदेशी है जिसको पद वो भी सुनेगा नदिया स्थिर है पंच कलानी सदी वो भी सुनेगा किंतु तो उसका पद का जो अर्थ है वो उसका बुद्धि में आएगा क्या नहीं आएगा क्यों कहते पद और अर्थ का बीच में संबंध उसको पता नहीं है नदिया शब्द का क्या अर्थ वो उसको पता नहीं है तो पहला कार्य है कि सुनेगा उसके लिए तो श्रवण इंद्रिय ठीक होना चाहिए चित्त एकाग्र होना चाहिए सुना सुनने के बाद पद जन्य पदार्थ उपस्थिति पद सुना पद का जो अर्थ है वो आना चाहिए कोई वाक्य कह दिया कि बंधिना सिंचित पद भी सुना अर्थ भी आ गया बनी के द्वारा गीला करे पद और अर्थ आ गया आने के बाद ये दोनों हो पाएंगे क्या बनी के द्वारा कोई गीला कर देगा क्या पदार्थ तो आ गया किंतु तो उनका संबंध नहीं हो पाया इसी प्रकार की यहाँ कहें मध्या स्थिर पंच कला संति पदार्थ आ गए ये पदों का यहाँ संबंध हो पाएगा नहीं हो पाएगा नदी का तीर में पांच फल है संबंध हो पाएगा तो संबंध ज्ञान वो व्यक्ति को हुआ तभी उसने चला किसी को हो सकता है कि संबंध ज्ञान नहीं हुआ उसको कुछ विपरीत पता चला वो भी नहीं जाएगा किसी को पदार्थों का और पद का अर्थ ही नहीं आया और किसी को पद ही सुनाई नहीं देगा इतने सारे इसमें व्याघात तो हो सकते हैं इस चीज को बताते रहे हैं तत्वमस्यादि वाक्यों का कथम तत्व प्रतिपादये चतुर्थम प्रश्न प्रति विधत्ते विधत्ते विधत्ते का अर्थ क्या होता जाएगा विपुरोधा अर्थात प्रति करोती प्रतिकार करते हैं प्रश्न का प्रतिकार क्या होता है उत्तर सुपति विधाते अर्थात तो उत्तर यदि उत्तर देते हैं चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हैं चतुर्थ प्रश्न का तत्व से वाक्यम वाक्य कथम तत्प्रतिपाद है

तत्व मस्यादि वाक्य तादात्म्य को कैसे कहेगा कहते हैं तत्व मस्यादि वाक्य तादात्म्य प्रतिपादन है तादात्म्य प्रतिपादन में क्या समझ होगा तो तदात्मा तदभाव तत्व मस्यादि वाक्य तादात्म्य प्रतिपादन करने में कैसा चलता है कहते हैं दो तत्व पदार्थ लक्ष्य उपाध्याय उपाध्याय का गृहित्व ग्रहण करते हैं तत्व पदार्थ तत्पदार्थ और तुम पदार्थ इसका दो लक्ष्यार्थ को लेकर के से चलता है वाच्यार्थ को लेकर के नहीं चलेगा दोनों का लक्ष्यार्थ को लेकर के ये चलेगा अच्छा ये उसका प्रक्रिया आगे श्लोक में ये बताएंगे अर्थात तत् और तुम दो पद हो गया पद का एक वाच्यार्थ आएगा और एक लक्ष्यार्थ आएगा ये लक्ष्यार्थ को लेकर के चलेगा ये बात ये वाच्यार्थ को लेकर के नहीं चलेगा वाच्यार्थ का शब्द उच्चारण करने से जो बुद्धि में आता है जैसा कहा जाएगा कि गंगायाम नौका गंगा शब्द का क्या अर्थ होगा प्रवाह हाँ। और जब कहा जाएगा कि गंगायाम ग्राम तो तीर लिया जाए तो क्यों आप तीर लिए पहले क्यों हम प्रवाह को ले लिए तो कहते हैं कि हम अगर गंगायाम ग्राम कहेंगे प्रवाह में ग्राम नहीं हो सकता है तो ये अन्वय नहीं हो मतलब ये तात्पर्य नहीं बनेगा यहाँ तो अनुय भी नहीं होगा क्योंकि गंगा का प्रवाह में ग्राम हो भी नहीं पाएगा इस प्रकार का तो ये दोनों पदार्थ का संबंध नहीं हो पाएगा इसलिए हमको लेना पड़ा क्योंकि संबंध नहीं होता तो छोड़ देना चाहिए वाक्य को ये कुछ तो गलत कह दिया तो जो कहा वो गलत व्यक्ति नहीं है ना जो कहा वो आप तो पुरुष है आप तो पुरुष का वाक्य अनर्थ नहीं होगा तो इसी प्रकार यहाँ जो कहते हैं वो श्रुति कहते हैं श्रुति कभी गलत बात नहीं कहेगी इसलिए वो क्या कहना चाहती है हमको समझना पड़ेगा सामान्यतः हमको दिखता है तो विरोध हो रहा है तो इसलिए कहते हैं कि बाच्यार्थ को यहाँ नहीं लिया जाएगा क्योंकि बाच्यार्थ में विरोध हो रहा है एक तुम तुम कहने से जीव शरीर मन प्राण बुद्धि विशिष्ट हो गया परिचिन्न हो गया अल्प शक्तिमान बुद्धि वाला और एक ईश्वर हो गया तत्पदार्थ का बाच्यार्थ सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ये दोनों लेने से विरोध हो रहा है एक अल्प एक सर्व तो इसलिए कहते हैं कि ये विरोध हो रहा है कि तो शास्त्र तो कह रहा है दोनों एक ही है इसलिए कुछ अंश को छोड़ना पड़ेगा यहाँ जो विरोध अंश है उसको छोड़ना पड़ेगा आगे श्लोक में उसको तो तत्व पदार्थ लक्ष्यार्थ को लेकर के ये ऐक्य करेगा इस श्लोक उच्चारण करेंगे कथम पुनः सतोर वाक्यार्थयोर लक्ष्यार्थ उपादाय वाक्य से वाक्यार्थ बोधने प्रवृत्ति इतिहास ये जो तत् और पदार्थ हुआ इनका वाच्यार्थ है नहीं है? कहते हैं कथम पुनः वाच्यार्थ और सतोह सतो अर्थात विद्यमान होने पर दोनों का वाच्यार्थ विद्यमान है होने पर भी लक्ष्यार्थ उपादाय उपादाय का अर्थ गृहत्वा ग्रहण करके तो, तो वाच्यार्थ विद्यमान होने पर भी आप लक्ष्यार्थ लेकर के वाक्य से वाक्यार्थ बोधने प्रवृत्ति वाक्य प्रवृत्त हो रहा है किसके लिए प्रवृत्त हो रहा है वाक्यार्थ बोधने वाक्य से बोधने प्रवृत्ति वाक्य वाक्यर्थ बोधन बोधन अर्थात ज्ञापन वाक्य वाक्यर्थ का बोधन कराने के लिए जो प्रवृत्त हो रहा है पूर्व पक्ष पूछता है इसका वाच्यार्थ है तो आप लक्ष्यार्थ को क्यों ले रहे हैं हमेशा वाच्यार्थ को लेकर के कार्य करना चाहिए